मगर इंसान को जब उसका रब आजमाता है फिर उसे इज्जत बख्शता है और नेमत देता है तो वो कहता है मेरे रब ने मुझे इज्जत बख्शी है